कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा गो हम उसी जैसा और भी उसकी मदद में ले आएं